और अहले किताब में से ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक ख़जाने का अमीन बना दो तो भी वो उसको अदा कर देगा और उनमें ऐसे भी हैं कि आप अगर उसको एक दिनार भी अमानत दो वो भी आपको उस वक्त तक अदा नहीं करेगा मगर जब तक आप उनके सर पर खड़े रहो उसकी वजह यह है कि यकीनन उन्होंने कहा कि अनपढ़ों के बारे में हम पर कोई रास्ता नहीं और वो अल्लाह ताला पर झूठ कहते हैं हालांकि वो जानते हैं